and Osho Talk. Amritdwar number 1. कि रात जब लौटूंगा अंधेरा बहुत हो जाएगा और फिर मैं नशे में भी होऊंगा सांस में लालटेन लेता चलूं वो लालटेन लेके मधुशाला गए फिर उसने वहां शराब पी और आधी रात बीते वो अपने घर की तरफ वापस लौटा चलते वक्त उसने लालटेन उठा ली और घर की तरफ चला लेकिन रास्ते पर जगह जगह खड़े हुए जानवरों से मकानों से रास्ते पर गुजरते लोगों से उसकी टक्कर होने लगी वो बार बार अपनी लालटेन उठा के देखने लगा और पूछने लगा अपने मन में कि आज लालटेन को क्या हो गया है प्रकाश नहीं मालूम होता रास्ता बड़ा अंधेरा मालूम पड़ता है लालटेन कुछ प्रकाश नहीं देती फिर अखीर में वो एक दीवार से टकरा के नाली में गिर पड़ा उसने गुस्से से लालटेन पटक दी और उसने कहा कि ठीक ही कहते थे पुराने लोग कि कलयुग आएगा जब प्रकाश भी फिर प्रकाश नहीं देगा ये लालटेन भी ही मालूम पड़ती है फिर सुबह उसे बेहोश हालत में ही घर उठा के पहुंचाया गया दोपहर मधुशाला के मालिक ने एक नौकर भेजा और उसके साथ एक चिट्ठी भेजी उस चिट्ठी को उसने जाके उस रात शराब पिए आदमी को दी उस चिट्ठी में मधुशाला के मालिक ने लिखा था मेरे मित्र रात तुम भूल से अपनी लालटिन की जगह मेरे तोते का पिंजरा उठा के ले गए मैं लालटन वापस भेज रहा हूं कृपा करके मेरा तोते का पिंजरा तुम वापस लौटा देना तब उसने पीछे जाकर देखा वो रात तोते का पिंजरा ले आया था अब तोते के पिंजरों से प्रकाश नहीं निकलता लेकिन बेहोश आदमी को यही पता नहीं चलता है कि क्या लालटून है क्या तोते का पिंजरा है आज तक आदमी धर्म के नाम पर तोतों के पिंजरे पकड़े रहा है इसलिए धार्मिक दुनिया पैदा नहीं हो सकी और आदमी का परिवर्तन नहीं हो सका धर्म के नाम पर हम तोतों के पिंजरे पकड़े हुए हैं प्रकाशित दिए नहीं इस बात में कि पूरब के लोग धार्मिक थे या भारत के लोग आध्यात्मिक थे ये बात सरासर झूठी है अब तक कोई जमीन पर कोई मुल्क आध्यात्मिक नहीं रहा है इस झूठी बात के कारण हमको ये भ्रम पैदा होता है कि हम आध्यात्मिक थे फिर भी हम शांत नहीं हो सके और तब इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि अगर इतने आध्यात्मिक होते हुए भी हम शांत नहीं हो सके तो इसका मतलब साफ है कि सारी दुनिया कितनी ही आध्यात्मिक हो जाए शांत नहीं हो सकेगी पहली बात हम आध्यात्मिक कभी थे ही नहीं इसलिए दूसरा निष्कर्ष लेने की कोई भी जरूरत नहीं है पहले इस पर ही हम विचार कर लें कि हम कैसे आध्यात्मिक थे क्या आध्यात्मिक बातें करने से कोई आध्यात्मिक हो जाता है तब तो तोते भी उपनिषद के वचन बोल देंगे और रामायण की पंथियां दोहरा देंगे और आध्यात्मिक हो जाएंगे आध्यात्मिक शब्दों और शास्त्रों को दोहराने में से कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता है बल्कि सच्चाई यह है कि जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते वे ही इन शब्दों को दोहरा के आध्यात्मिक होने की तृप्ति पैदा कर लेने की कोशिश करते हैं इधर तीन हजार वर्षों से हमारे देश को ये बुनियादी भ्रम रहा है और उस भ्रम के कारण हम रोज रोज पतित होते गए हैं ये पतन आध्यात्म के कारण नहीं हुआ है ये पतन आध्यात्मिक होने के भ्रम के कारण हुआ है अगर एक अंधे आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मेरे पास आंखें हैं उस तो अंधे की क्या हालत होगी वो जगह जगह खड्डों में गिरने लगेगा और तब वो कहेगा कि बड़ा कंट्रडिक्शन मालूम होता है मेरे पास आंखें हैं फिर मैं गड्ढों में क्यों गिरता हूं और तब वो ये कहेगा कि फिर निश्चित है दुनिया में आदमी हमेशा गड्ढों में गिरते रहेंगे क्योंकि आंखों के होने से गड्ढों में गिरने से कोई रुकावट नहीं पड़ती लेकिन उस आदमी को जानना चाहिए जो गड्ढों में गिर रहा है उसके पास आंखें नहीं होंगी आंखों के होते हुए गड्ढों में गिरने का कोई कारण नहीं गड्ढों में गिरना और आंखों का न होना एक ही अर्थ रखता है एक बीमार आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मैं स्वस्थ हूं तो फिर उसका उपचार भी नहीं हो सकेगा एक मरे हुए आदमी को ख्याल हो जाए कि मैं जिंदा हूं तो बात खत्म हो गई भारत को भारत के पतन में जो सबसे बड़ी बात काम करती रही है वो ये भ्रम कि हम आध्यात्मिक हैं ये भ्रम कैसे पैदा हो गए इस भ्रम के पैदा हो जाने के कुछ कारण हैं पहली बात दुनिया में अभी हम सारे लोग हैं 2000 साल बाद हम में से शायद किसी का भी नाम स्मरण में नहीं रह जाएगा लेकिन गांधी का नाम स्मरण में रह जाएगा 2000 साल बाद लोग सोचेंगे कि गांधी के जमाने के लोग कितने धार्मिक थे वे गांधी के हिसाब से सारी दुनिया के बाबत विचार करेंगे और गांधी बिल्कुल अपवाद थे एक्सेप्शन थे गांधी नियम नहीं थे गांधी हम सबके प्रतिनिधि नहीं थे गांधी हम सबसे उल्टे और विरोधी थे लेकिन 2000 साल बाद हम जो कि प्रतिनिधि हैं असली आदमी हैं ये भूल जाएंगे और गांधी जो बिल्कुल अकेले हैं वो याद रह जाएंगे और 2000 साल बाद लोग कहेंगे गांधी के जमाने के लोग कितने अच्छे थे ये बात बिल्कुल झूठी होगी गोंड से तो हमारा प्रतिनिधि हो भी सकता है गांधी हमारे प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं थे अब हम पीछे की तरफ सोचते हैं बुद्ध के जमाने के लोग बड़े अच्छे थे क्योंकि बुद्ध हमें याद है बुद्ध बिल्कुल अकेले आदमी है वो जमाने के प्रतिनिधि नहीं महावीर हमें याद है क्राइस्ट हमें याद है सुकरात हमें याद है कृष्ण और राम हमें याद है उनके आधार पर हम सोचते हैं कि उस जमाने के लोग कितने धार्मिक और कितने आध्यात्मिक थे ये सारा तर्क अत्यंत मिथ्या और झूठ है ये एक आदमी के आधार पर सभी लोगों का निर्णय लेना है ये बिल्कुल गलत है सच्चाई इससे उल्टी सच्चाई यह है कि बुद्ध अपने जमाने के प्रतिनिधि नहीं थे अन्यथा बुद्ध किन लोगों को समझा रहे थे कि चोरी मत करो बेईमानी मत करो झूठ मत बोलो हिंसा मत करो क्रोध मत करो बुद्ध किसको समझा रहे थे ये बातें या तो बुद्ध पागल थे लोग आध्यात्मिक थे और बुद्ध समझा रहे थे चोरी मत करो बुद्ध की शिक्षाएं किसके लिए थी अगर चोर नहीं थे तो अगर बेईमान नहीं थे अगर धोखेबाज लोग नहीं थे किसको समझा रहे थे बुद्ध क्राइस्ट किसको समझा रहे थे कि प्रेम करो किसको समझा रहे थे कि एक चांटा कोई मारे तुम्हारे गाल पर तो दूसरा उसके सामने कर देना आध्यात्मिक लोगों को ये बातें उन लोगों को समझाई जा रही थी जो मानते थे कि कोई एक आंख तुम्हारी निकाले तो तुम दोनों आंखें उसकी निकाल लेना ये लोग आध्यात्मिक नहीं थे पृथ्वी पर आज तक कोई कौम कोई समाज कोई राष्ट्र आध्यात्मिक नहीं रहा लेकिन इन लोगों के आधार पर एक भ्रम पैदा होता है कि पिछले जमाने बहुत आध्यात्मिक थे मैंने बहुत खोज की कि कोई ऐसी किताब मिल जाए जो ये कहती हो कि हमारे जमाने के लोग आध्यात्मिक हैं ऐसी किताब मुझे नहीं मिल सकी दुनिया की सबसे पुरानी किताब चीन में उपलब्ध है जो कोई 6000 वर्ष पुरानी होगी उस किताब की भूमिका में लिखा हुआ है कि आजकल के लोग बहुत पतित हो गए हैं पहले के लोग बहुत अच्छे थे ये पहले के लोग कब थे ये पहले के लोग कभी थे या ये मिथ ये केवल कल्पना है हर किताब कहती है पहले के लोग अच्छे थे हर उपदेशक कहता है पहले के लोग अच्छे थे अतीत अच्छा था ये हम मान लेते हैं और इससे एक कठिनाई एक कंट्रडिक्शन एक विरोधाभास खड़ा हो जाता है कि इतने दिनों तक हम आध्यात्मिक रहे और फिर हमारी ये स्थिति हो रही ये हमारा पतन फिर समझाना बहुत कठिन हो जाता है तब फिर एक ही रास्ता रह जाता है या तो हम कलयुग के ऊपर दोष थोप दें कि ये युग ही खराब है लेकिन ये बड़ी बचकानी दलील है समय खराब नहीं होता ना अच्छा होता है युग खराब नहीं होते हैं तब फिर दूसरा रास्ता यह है कि हम पश्चिम के भौतिकवाद के ऊपर सारा दोष थोप दें कम्युनिज्म के ऊपर नास्तिकता के ऊपर साइंस के ऊपर मेटेरियलिज्म के ऊपर और पश्चिम के ऊपर सारा दोष थोप दें कि पश्चिम के भौतिकवादियों ने सब बर्बाद कर दिया है ये भी बड़ी कमजोर और बड़ी नपुंसक दलील है किसी घर का दिया बुझ जाए और घर में अंधेरा हो जाए और घर के लोग बाहर जाके कहने लगे कि हम क्या करें अंधेरे ने आके हमारे दियो को बुझा दिया तो हम उस आदमी को कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो अंधेरे ने आज तक किसी के दिए को नहीं बुझाया अंधेरा इतना कमजोर है कि वो दियो को कैसे बुझाएगा दिया बुझ जाता है तो अंधेरा जरूर आ जाता है लेकिन अंधेरा आके कभी किसी के दिए को नहीं बुझाता भौतिकवाद अगर अध्यात्मवाद के दियो को बुझा दे तो दो कौड़ी का है वो अध्यात्मवाद अगर विज्ञान की बातें अध्यात्म की बातों को बुझा दे तो दो कौड़ी की हैं वे अध्यात्म की बातें कमजोर हैं बहुत उन्हें जीने का और बच रहने का कोई हक भी नहीं लेकिन ये बात ही झूठ है अध्यात्म का दिया जलता हो तो भौतिकवाद का अंधेरा प्रवेश भी नहीं करता लेकिन अध्यात्म का दिया ही न जल रहा हो तो फिर भौतिकवाद का अंधेरा प्रवेश करता है इसमें अंधेरे का कोई भी कसूर नहीं है इसमें अंधेरे पर दोष देने की कोई भी जरूरत नहीं अंधेरे का कभी भी कोई कसूर नहीं रहा मैंने सुना है एक बार अंधेरे ने जाकर भगवान से यह प्रार्थना की थी कि सूरज मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है सुबह से सांझ तक मुझे परेशान करता है रात में मैं विश्राम भी नहीं कर पाता कि फिर सुबह से हाजिर हो जाता है सोते से मुझे जगा देता है फिर मेरा पीछा करता है ये हजारों लाखों वर्ष हो गए मैं परेशान हो गया हूं मेरी को समझ में नहीं आता मैंने कभी कोई अहित किया हो सूरज का इसका भी पता नहीं है मेरे याद में भी नहीं है कि कभी कोई भूल चूक मुझसे हुई हो फिर भी सूरज मेरे पीछे क्यों परेशान कर रहा है मुझे भगवान ने सूरज को बुलाया और उसने कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो क्यों उसे सता रहे हो क्या उसने तुम्हारा बिगाड़ा है सूरज ने कहा अंधेरा अंधेरे से मेरी कोई अब तक मुलाकात ही नहीं मैं उसे पहचानता भी नहीं बिगाड़ने ना बिगाड़ने का सवाल नहीं सताने न सताने का सवाल नहीं मैं उसे जानता भी नहीं हूं फिर भी आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे अंधेरे को मेरे सामने बुला लें तो मैं क्षमा मांग लूं और उसे पहचान भी लूं ताकि आगे मुझसे कोई भूल ना हो सके इस बात को हुए भी लाखों वर्ष हो गए वो मामला अभी भगवान की फाइल में ही पड़ा हुआ है वो अंधेरे को अब तक सूरज के सामने नहीं ला सके हैं वो ला भी नहीं सकेंगे कभी क्योंकि अंधेरा केवल सूरज के अभाव का नाम है वो केवल एब्सेंस है वो किसी चीज की उपस्थिति नहीं है वो किसी चीज की अनुपस्थिति वो केवल प्रकाश का न होना है तो प्रकाश के सामने ही प्रकाश की अनुपस्थिति को कैसे मौजूद किया जा सकता है या तो मैं इस कमरे में हो सकता हूं या मेरी गैर मौजूदगी हो सकती दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती तो अंधेरे को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकेगा अध्यात्म के सामने कोई भौतिकवाद कभी नहीं आया और कभी नहीं आ सकता है लेकिन अध्यात्म है ही नहीं और तब हम सोचते हैं कि ये इतना विरोधाभास कैसे पैदा हो गया ये विरोधाभास हमारा तार्किक विरोधाभास है जीवन की वस्तु स्थिति का विरोध नहीं ये हमारे सोचने की बुनियादी भूलों में से एक भूल ये बात ही गलत है कि अब तक कोई मुल्क धार्मिक हो गया इसलिए आदमी अशांत है अशांत होगा इसलिए आदमी बेचैन है आदमी बेचैन होगा इसलिए असंतोष है असंतोष होगा कुछ व्यक्ति जरूर आध्यात्मिक हुए हैं और जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो गए हैं उनके जीवन में ना असंतोष है ना अशांति है ना बेचैनी समझ मेरी यह है कि जो एक व्यक्ति के जीवन में घटित हो सकता है वो सबके जीवन में घटित हो सकता है घटित नहीं हुआ है लेकिन घटित हो सकता है क्योंकि बुनियादी रूप से दो व्यक्तियों के बीच कोई भेद नहीं बुद्ध के और मेरे बीच महावीर के और आपके बीच क्राइस्ट के और कृष्ण के और किसी के बीच कोई बुनियादी भेद नहीं मनुष्य का एक बीज है जो लोग उस बीज पर श्रम करते हैं उनका बीज वृक्ष बन जाता है उस वृक्ष से छाया उपलब्ध होती है उस वृक्ष में फूल आते हैं और फल लगते हैं लेकिन जो बीज बीज ही पड़े रह जाते हैं बीज ही बने रह जाते हैं उनको छाया नहीं उपलब्ध होती नहीं फूल उपलब्ध होते नहीं फल उपलब्ध होते लेकिन इससे ये सोच लेने का कोई भी कारण नहीं कि उन बीजों के भीतर भी उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी दूसरे बीजों के भीतर थी प्रत्येक बीज वृक्ष बनने में समर्थ है और प्रत्येक मनुष्य शांति को उपलब्ध करने और प्रत्येक मनुष्य परमात्मा को उपलब्ध करने मनुष्य एक बीज है और परमात्मा उसका विकास है और अगर एक मनुष्य भी उस अवस्था को उपलब्ध होता है जिसे वो प्रभु प्राप्ति कहता है मोक्ष कहता है सत्य कहता है निर्वाण कहता है तो सभी मनुष्य हकदार हो जाते हैं अधिकारी हो जाते हैं उस स्थिति को पाने की लेकिन ये नहीं हो सका है अब तक ये बात बिल्कुल ही सच है और जिन रास्तों का हमने अब तक प्रयोग किया है अगर उन्हीं का आगे भी प्रयोग जारी रखते हैं तो ये आगे भी नहीं हो सकेगा ये भी सच है अध्यात्म के नाम पर कुछ गलत दिशाएं प्रचलित रही हैं इसलिए ये बात नहीं हो सकी ठीक अध्यात्म ठीक वैज्ञानिक अध्यात्म नहीं पैदा हो सका है जो पूरे लोक लोकांतर को परिवर्तित कर सके संपरिवर्तित कर सके क्रांति दे सके और इसमें सबसे बड़ी बाधा यही रही है कि जिनको भी ये ख्याल पैदा हो गया है कि हम आध्यात्मिक हैं उन्हीं ने विकास को अवरुद्ध कर दिया उन्होंने चीजों को ठहरा दिया मनुष्य को बहुत तरह के भ्रम हो सकते हैं भ्रम बहुत आसान है भ्रमों को पाल लेना बहुत सरल भी है सपने देखना बहुत सुविधापूर्ण भी है फिर जो दरिद्र होते हैं वो रात सपने देखते हैं कि समृद्ध हो गए हैं जो दिन में भीख मांगते हैं वो रात सपने देखते हैं कि वो सम्राट हो गए हैं जीवन में बहुत बेचैनी है बहुत दुख है बहुत अशांति है और इसलिए अध्यात्म के और अध्यात्म की शांति के सपने देखना लोग शुरू कर देते हैं लेकिन सपने सच्चाइयां नहीं हैं और सपने देखने से जीवन की स्थितियां परिवर्तित नहीं होती और आदमी अब तक बृहत समाज मनुष्य का सपने देखता रहा भगवान के नाम पर हमने बहुत सपने देखे और उन सपनों को ही हमने धर्म समझ लिया है सत्य के नाम पर हमने बहुत सपने देखे हैं और उन सपनों को ही हमने सत्य समझ लिया है इसलिए हम ठहर गए हैं और रुक गए हैं और मनुष्य जाति का आगे कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता है कि आगे कैसे विकास होगा ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही होता रहेगा लेकिन अनंत संभावनाएं हैं मनुष्य की और जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कल रात ही मैं बात कर रहा था एक बिशप था जर्मनी में बिशप राइट वो एक विश्वविद्यालय में प्रवचन करने गया वहां बोलते समय उसने कहा कि दुनिया का जितना विकास होना था वो हो चुका है अब कोई संभावना विकास की नहीं मालूम होती आदमी करीब करीब ऐसे ही जिए चला जाएगा विज्ञान को जो खोजें करनी थी वो पूरी हो चुकी अब कुछ समझ में नहीं आता कि और खोज क्या हो सकती है एक आदमी उस सभा में उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा कि ऐसा मत कहिए बहुत बातें हो सकती हैं क्योंकि आदमी के अतीत से आदमी का भविष्य बहुत बड़ा है अतीत बहुत छोटा था भविष्य बहुत बड़ा है ऐसा मत कहिए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता उस बिशप ने टेबल ठोक के कहा कि मैं कहता हूं कुछ भी नहीं हो सकता तुम सुझाओ कि क्या हो सकता है क्या संभव है उस आदमी ने झिझकते हुए कहा उसने कहा कि यह हो सकता है अभी आदमी आकाश में नहीं उड़ता कल आकाश में उड़ने लगे तब तक हवाई जहाज नहीं बने थे वो बिशप हंसने लगा और उसने कहा पागल हो तुम दस हजार साल से आदमी सपने देखता है आकाश में उड़ने के कोई आदमी उड़ नहीं पाया आप तक लोग कहानियां लिखते हैं आकाश में उड़ने की लेकिन कोई आदमी उड़ नहीं पाया कोई नहीं उड़ सकेगा ये संभव नहीं है और आप हैरान होंगे उसी बिशप के दो लड़कों ने 25 साल बाद हवाई जहाज निर्माण किया उसी बिशप के दो लड़कों ने तो वो जिंदा था तब उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं हैरान हो गया हूं मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मेरे ही दो लड़के राइट ब्रदर्स वो उसी बिशप राइट के लड़के थे दोनों बिल्वर और ओलिवर राइट वो दोनों उसी के लड़के थे मेरे ही लड़के मेरे ही घर में पहला हवाई जहाज निर्माण कर लेंगे इसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता था क्योंकि मैं तो कहता था कि दुनिया में कोई भी नहीं कर सकेगा आदमी का भविष्य आदमी के अतीत से बहुत बड़ा है इसलिए निराश होने का कोई भी कारण नहीं जरा भी कोई कारण नहीं आदमी शांत हो सकता है आदमी संतोष को उपलब्ध हो सकता है और आदमी आनंद को भी उपलब्ध हो सकता है दुख और चिंता और अशांति मनुष्य की नियति नहीं है मनुष्य की भूल है बीमारी मनुष्य की नियति नहीं है मनुष्य का दोष है स्वास्थ्य संभव है जैसे शारीरिक स्वास्थ्य संभव है वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी संभव है जैसे शारीरिक स्वस्थ होना संभव है और रोज संभावना बढ़ती जाती है मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य की क्योंकि हम शरीर विज्ञान की खोज में लगे हैं ऐसे ही मनुष्य के आत्मिक स्वास्थ्य की संभावना भी बढ़ सकती है अगर हम आत्मिक विज्ञान की खोज में लगे लेकिन आत्मिक विज्ञान के नाम पर हम अंधविश्वासों में पड़े हैं तो फिर यह विकास नहीं हो सकता है आत्मविज्ञान के नाम पर हम अंधविश्वासों को पकड़े हुए विज्ञान के नाम पर आदमी बहुत दिन तक जादू टोनों को पकड़े रहा मैजिक था साइंस नहीं थी कोई आदमी बीमार हो जाए तो मंत्र फूको हजारों साल तक मंत्र फूके गए उससे कुछ भी नहीं तो कोई कह सकता था कि आदमी स्वस्थ हो ही नहीं सकेगा क्योंकि हम हजारों साल से मंत्र फूक रहे हैं लेकिन आदमी स्वस्थ नहीं होता वो दिशा गलत थी वो आदमी के स्वस्थ होने की असंभावना नहीं थी वो दिशा गलत थी मंत्र फूकने से कुछ भी नहीं हो सकता था लेकिन फिर आदमी ने खोजबीन की रुक नहीं गया और उसने विज्ञान को खोज लिया उसने मेडिकल साइंस को खड़ा कर लिया वो अब पूरी अभी भी पूरी खड़ी नहीं हो गई लेकिन रोज कदम आगे बढ़ते जाते हैं और इस बात की संभावना बढ़ती चली जाती है कि एक जमाना आए कि आदमी को बीमार रहने के हम सारे कारणों पर विजय पा लें उसके स्वास्थ्य की हम सुनिश्चित व्यवस्था कर दें जो शरीर के लिए हो सकता है वो मन के लिए क्यों नहीं हो सकता लेकिन मन के संबंध में भी हम जादू टोने की स्थिति में है भी मन के संबंध में हमारी विज्ञान की स्थिति पैदा नहीं हुई एक समुद्र के किनारे एक बाप अपने बेटे को लेकर टहलने गया था छोटा सा बेटा वो उसको समुद्र किनारे टहल रहा है शांत सूरज ढल रहा है वो छोटा बेटा अपने बाप को बड़ा ताकतवर मानता है बाप उसके सामने आकर के भी चल रहा है जो भी बच्चा पूछता है वो उत्तर दे रहा है और बच्चे को सभी उत्तर सही मालूम पड़ते हैं क्योंकि बाप कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा हालांकि बाप के दिए गए उत्तर में और बच्चों के दिए गए उत्तर में कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं होता अज्ञान करीब करीब बराबर बच्चे की प्रशंसा भरी आंखों से बाप बहुत खुश हो गया है तट पर कोई भी नहीं है फिर सूरज डूबने लगा उसने अपने लड़के से कहा कि देख अब मैं सूरज को आज्ञा देता हूं कि डूब जाए और उसने जोर से कहा कि गो डाउन गो डाउन वो सूरज तो डूब ही रहा था सूरज डूब गया वो बच्चा चकित खड़ा रह गया उसने अपने बाप को कहा do it again daddy do it again एक बार और करके दिखाइए पिताजी बहुत मजा आया एक बार और करिए उस पिता ने कहा कि ये काम दिन में एक ही बार होता है अब कल मंत्र की ताकत इतनी है कि मैं एक ही बार कर सकता हूं अब कल करूं तो लेकिन बच्चा आज नहीं कल जवान हो जाएगा और जान लेगा ये मंत्र की ताकत से नहीं हुआ आदमी अपने बचपन से गुजरा है जहां तक पदार्थ का संबंध है लेकिन आदमी अपने बचपन से नहीं गुजर सका अब तक जहां तक अध्यात्म का संबंध है अध्यात्म के संबंध में हम अभी भी प्रिमिटिव हैं अभी भी आदिवासी हैं विज्ञान के संबंध में हम थोड़े विकसित हुए हैं पदार्थ के संबंध में हमारी जानकारी बढ़ी है लेकिन अध्यात्म के संबंध में अभी हम उतने ही आदिवासी हैं जितने दस हजार साल पहले आदमी था क्यों हम आदिवासी रह गए हैं अध्यात्म की दिशा में क्यों हम जंगलों के निवासी हैं अब तक अध्यात्म की दिशा में कुछ कारण हैं जिनकी वजह से यह हो गया कुछ एक दो कारणों पर आज मैं आपसे बात करूंगा फिर मैं आपसे बात करूंगा पहली तो बात विज्ञान संदेश से विकसित हुआ और धर्म विश्वास के कारण मर गया विज्ञान का सारा विकास हो सका डाउट के कारण संदेह के कारण और धर्म का विकास नहीं हो सका विश्वास के कारण बिलीफ के कारण और धर्म का विकास नहीं हो सकेगा कभी भी अगर वो विश्वास से ही बंधा रखा गया तो विश्वास का मतलब ही होता है विकास नहीं विश्वास में आगे जाने के लिए कोई गति नहीं है विश्वास गोल चक्कर है जिसमें आप घूम सकते हैं लेकिन आगे नहीं जा सकते विश्वास कोल्हू के बैल की तरह है चक्कर लगाता रहता है लगाता है मैंने सुना है बंगाल में एक बहुत बड़ा विचारक था वो एक दिन सुबह अपने गांव के तेली के पास तेल खरीदने गया था वो तेल खरीदने लगा उसने देखा कि तेली के पीछे ही उसका कोल्हू चल रहा है बैल कोल्हू को चला रहा है कोई उसको चला नहीं रहा बैल खुद ही चले जा रहा है तो उसने उस तेली को पूछा कि मेरे दोस्त बड़ी अजब बात है तुम्हारा बैल बड़ा धार्मिक मालूम होता है कोई उसे चला भी नहीं रहा और वो चला जा रहा है चला जा रहा है उसको शक भी नहीं होता कि रुक के देख ले कि कोई पीछे चलाने वाला भी है या नहीं तुम तो पीठ किए बैठे हो उस तेली ने कहा अगर तुम बैल को धार्मिक कहते हो तो मुझको एक पुरोहित समझ लो देखते नहीं हो मैंने उसकी आंख की पट्टियां बांध दी उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है उस विचारक ने कहा कि ये भी ठीक है कि तुमने उसकी आंख में पट्टियां बांध दी हैं लेकिन कभी वो रुक के भी तो पता लगा सकता है कि कोई पीछे चलाने वाला है या नहीं उसने कहा कि तुम देख नहीं रहे हो उसके गले में मैंने घंटी बांध दी जब तक वो चलता रहता है घंटी बजती रहती जब वो रुकता है घंटी रुक जाती मैं उठ को उसको फिर चला देता हूं उसे पता भी नहीं चल पाता कि पीछे कोई मौजूद नहीं था उस विचारक ने कहा एक अंतिम प्रश्न और बैल बड़ा नासमझ मालूम होता है खड़े होकर सिर हिलाता रहे तो घंटी बजती रहेगी और तुम समझोगे कि बैल चल रहा उस तेली ने कहा महाराज धीरे बोलिए कहीं आपकी बात बैल ना सुन ले हमारा सारा धंधा ही चौपट हो जाए अगर बैल को यह पता चल जाए कि सिर खड़े रह के घंटी बजाई जाए धर्म के नाम पर धंधा है धर्म के नाम पर पुरोहित है पादरी है पंडित है धर्म के नाम पर शोषक है धन का ही शोषण नहीं हुआ है मनुष्य जाति में धर्म के नाम पर उससे भी बड़ा शोषण हुआ मनुष्य के शरीर को ही गुलाम नहीं बनाया गया है उसकी आत्मा और उसके मन को भी गुलाम बनाने के सब उपाय किए गए और उन सब उपायों की जड़ में और बुनियाद में विश्वास की शिक्षा है श्रद्धा करो विश्वास करो जो कहा गया है उसको मानो शक मत करो संदेह मत करो जो बात मान ली जाती है उसके आगे विकास रुद्ध हो जाता है मानी गई बात विकास के लिए पत्थर बन जाती है द्वार बंद हो जाता है जिस बात पर हम शक करते हैं संदेह करते हैं उस बात पर हम आगे बढ़ते हैं विज्ञान का सारा विकास इधर 300 वर्षों में हुआ उसके पहले के दस हजार वर्षों में जो नहीं हुआ वो 300 वर्षों में हुआ और इधर पिछले तीस वर्षों में जो हुआ वो पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं हुआ और अगर दिन ठीक रहे और दुनिया के राजनीतिक बिल्कुल पागल साबित नहीं हुए तो शायद आने वाले तीस वर्षों में जो होगा वो कभी नहीं हुआ क्योंकि इन 300 वर्षों में आदमी ने पहली बार संदेह किया पदार्थ के संबंध में संदेह का जन्म हुआ तो विज्ञान पैदा हो गया आत्मा के संबंध में संदेह का जन्म होगा तो अध्यात्म पैदा होगा लेकिन आत्मा के संबंध में हम सोचते हैं कि विश्वास करना चाहिए संदेह नहीं क्यों क्यों विश्वास करना चाहिए और जिस बात पर हम विश्वास कर लेते हैं जो हमारी जानी हुई नहीं हमारी देखी हुई नहीं जो हमारा अनुभव नहीं जो किसी और का अनुभव है जो किसी और का जाना हुआ है जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो हम अपनी आंख पर पट्टियां बांध लेते हैं सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई दूसरा जाने और आपको दे दे सत्य स्वानुभव से ही उपलब्ध होता है मैं प्रेम करूंगा तो मैं प्रेम को जानूंगा मैं प्रेम पर कितने ही ग्रंथ पढ़ लूं और कितने ही गुरुओं के चरणों में बैठ के शिक्षा ले लूं लेकिन प्रेम अगर मैंने नहीं किया तो मैं प्रेम को नहीं जान पाऊंगा प्रेम के संबंध में जान लेना और प्रेम को जान लेना दो भिन्न बातें हैं धर्म के संबंध में जान लेना और धर्म को जान लेना दो भिन्न बातें हैं धर्म विश्वास से नहीं विवेक से उपलब्ध होता है और विवेक श्रद्धा से नहीं संदेह से उपलब्ध होता है पहली बात विचार कर लेनी जैसी है कि धर्म की साइंस धर्म का विज्ञान नहीं पैदा हो रहा है क्योंकि हम संदेह के लिए बहुत भयभीत हम संदेह करने में डरे हुए जिन कौमों ने संदेह नहीं किया वे समझती हैं कि हम धार्मिक हैं वे वैज्ञानिक भी नहीं है धार्मिक होना तो बहुत दूर की बात है धार्मिक होना तो बहुत ऊंची बात है वो वैज्ञानिक भी नहीं है जिन्होंने संदेह नहीं किया हम अपने मुल्क को इसलिए धार्मिक समझते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं विश्वास धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं विश्वास अंधे आदमी का सुस्त आदमी का काहिल आदमी का लक्षण आलसी आदमी का लक्षण एक आदमी बाजार में हंडी खरीदने जाता है तो चार तरफ से ठोक कर देखता है दो पैसे की हंडी खरीदता है सब तरफ से ठोक पीट कर देखता है कि वो ठीक है या नहीं कितना ही दुकानदार कहे कि बिल्कुल ठीक है हमारी दुकान पर बिल्कुल ठीक हंडी ही बिकती लेकिन वो कहता है ठीक कहते हैं आप लेकिन मैं ठोक के देख लेना चाहता हूं लेकिन धर्म के दुकानदार कहते हैं हंडी ठोक के तो मत देखना हम जो देते हैं वह आंख बंद करके ले लेना क्योंकि तुमने आंख खोली के नरक में गए आंख खोलना ही मत आंख खोलने वाले लोग भटक जाते हैं आंख बंद करके जो स्वीकार करते हैं वही परमात्मा परमात्मा तक पहुंचते हैं मैं आपसे कहता हूं कोई आदमी अगर आंख बंद करके परमात्मा भी पहुंच जाए तो ऐसे पहुंचने से इंकार कर देना चाहिए क्योंकि आंख बंद किए हुए जो चलेगा वो कहीं भी पहुंच जाए सत्य पर नहीं पहुंच सकता वो किसी सपने में ही पहुंच सकता है सपनों के लिए आंख बंद रखना जरूरी है सत्य के लिए आंख खोलना जरूरी है और जो भगवान खुली आंख से उपलब्ध नहीं हो सकता उस भगवान को उपलब्ध करने की कोई भी जरूरत नहीं लेकिन खुली आंख से भगवान उपलब्ध हो सकता है और मैं तो निवेदन करूंगा सिर्फ खुली आंख वाले लोगों को ही उपलब्ध होता है बंद आंख वाले लोगों को नहीं लेकिन बंद आंख का सिलसिला जारी रहा है और जो कौम जितनी बंद आंख रख सकी है उतनी ही वो कौम अपने को धार्मिक समझती रही वो धार्मिक जरा भी नहीं जब तक मेरा अनुभव मुझे पदार्थ के ऊपर किसी चीज की स्वीकृति न दे जब तक मेरा अनुभव मुझे अज्ञात की दिशा में कोई कदम बढ़ाने के लिए ना कहे जब तक मेरा अनुभव मुझे पारलौकिक की तरफ उठने का मौका ना दे तब तक मेरी सारी बातचीत सारी श्रद्धा मुझे अंधा ही करेगी मुझे भटकाएगी ही मुझे आगे नहीं ले जा सकती वो मुझे परतंत्र करेगी मुझे स्वतंत्र नहीं कर सकती और हम धार्मिक आदमी को कहते हैं मुक्त जो विश्वास से बंधा है वो मुक्त कैसे हो सकता है विश्वास की जंजीर तोड़ देनी जरूरी है ताकि विवेक का जन्म हो सके मनुष्य के जीवन में चेतना के विकास में हम उल्टी चीजों से बंधे हों और उल्टी चीजों की कामनाएं करते हों तो विरोधाभास पैदा होगा ही एक आदमी कहता हो मुझे प्रकाश के दर्शन करने हैं और आंख बंद किए हो और कहे कि मुझे तो सैकड़ों साल हो गए आंख बंद किए हुए लेकिन प्रकाश के दर्शन नहीं होते तो हम उससे कहेंगे ये विरोधाभास तुम्हारी बंद आंख के कारण पैदा हो रहा है परमात्मा सबसे बड़ा प्रकाश खुली हुई आंखें चाहिए शरीर की ही आंखें नहीं चेतना की आंखें भी खुली चाहिए विश्वास चेतना की आंखों को बंद कर देता है विश्वास अंधा बनाता है फिर चाहे वो विश्वास हिंदू का हो चाहे मुसलमान का चाहे जैन का चाहे ईसाई का फिर चाहे वो विश्वास आस्तिक का हो चाहे नास्तिक का फिर वो चाहे विश्वास कम्युनिस्ट का हो चाहे गैर कम्युनिस्ट का विश्वास मात्र मनुष्य को अंधा बनाता है हिंदू और मुसलमानों में बहुत विरोध है ईसाइयों में बौद्धों में बहुत विरोध है लेकिन एक बात में भी सब सहमत है कि आदमी को विश्वास करना चाहिए ये बुनियादी सीक्रेट है पूरे धंधे का इसमें कोई विरोध नहीं है इसमें हिंदू और ईसाई में कोई झगड़ा नहीं है इसमें जैन और बौद्ध में कोई झगड़ा नहीं कि विश्वास होना चाहिए इस एक बात पर दुनिया के सभी लोग सहमत हैं कि विश्वास होना चाहिए क्योंकि विश्वास के बिना जो वो चला रहे हैं वो तो नहीं चल सकता दुनिया में धर्म तो हो सकता है संदेह के कारण लेकिन हिंदू ईसाई मुसलमान जैन नहीं हो सकते संदेह होगा तो हिंदू मुसलमान विदा हो जाएंगे धर्म रहेगा धर्म आएगा लेकिन हिंदू मुसलमान के रहने की कोई जगह नहीं रह जाएगी क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदू की गणित अलग हो सकती है ईसाई की गणित अलग क्या आप सोच सकते हैं कैथोलिक की केमिस्ट्री अलग और प्रोटेस्टेंट की केमिस्ट्री अलग हो सकती है क्या आप सोच सकते हैं भूगोल जैनियों का अलग होगा बौद्धों का अलग होगा नहीं पदार्थ के जगत में एक ही बात होगी 100 डिग्री पे पानी गर्म होता है तो चाहे हिंदू गर्म करे चाहे मुसलमान गर्म करे 100 डिग्री पे गर्म होता पानी ये नहीं कहता कि तुम मुसलमान हो तुम्हारी कुरान अलग तुम्हारे भगवान अलग तुम्हारी मस्जिद अलग तो हम तुम्हारे लिए अलग ढंग से गर्म होंगे पानी गर्म होता है सौ डिग्री पर चाहे कोई गर्म करे पानी का नियम एक है पदार्थ का नियम एक है परमात्मा के नियम अनेक कैसे हो सकते कोई नियम अनेक नहीं हो सकते नियम हमेशा सार्वभौम होते हैं यूनिवर्सल होते हैं जमीन पर 300 धर्म है 300 साइंस हो सकती है जमीन पर जिस दिन जमीन पर 300 साइंस होंगी समझ लेना कि जमीन एक बड़ा पागल खाना हो गया लेकिन 300 धर्म है जमीन पर और रोज खड़े होते जाते हैं क्योंकि एक पागल आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मुझे सत्य उपलब्ध हो गया है और वो जोर से टेबल पीट के कह सके कि मुझे सत्य उपलब्ध हो गया है दस पच्चीस कमजोर आदमी कपते हुए उसके पास इकट्ठे हो जाएंगे इसलिए नहीं कि उसको सत्य उपलब्ध हो गया है इसलिए कि वो जोर से बोलता है जोर से बोलने का बड़ा प्रभाव पड़ता है एक गुरु एक बहुत बड़ा वकील अपने शिष्य को समझा रहा था उसकी सारी शिक्षा पूरी हो गई थी और कल ही वो अदालत में जाने को था उसके गुरु से उसने पूछा कि अब आखिरी संदेश क्या है मेरे लिए कल मुझे अदालत में जाना तो उस बूढ़े वकील ने कहा एक बात ध्यान में रखना अगर कानून तुम्हारे पक्ष में हो तो वकील के सिर पर हैमर करना बिल्कुल कानून ही कानून ठोकना उसके सिर पर एकदम हथौड़ी की चोट कानून की बात करना तो उस युवक ने पूछा अगर कानून मेरे पक्ष में ना हो तो उसने कहा फिर मजिस्ट्रेट के हृदय पर चोट करने की कोशिश करना उसकी सहानुभूति पाने की कोशिश करना फिर कविता पढ़ना और काव्य की बातें करना और उसकी दया को प्रभावित करने की कोशिश करना और उसने कहा कि अगर मेरा मामला ऐसा भी ना हो कि जिसको सहानुभूति मिल सके तो उसने कहा फिर जोर जोर से टेबल पीटना इतने जोर से पीटना कि सारी अदालत समझे कि जो आदमी इतने जोर से टेबल पीट रहा है वो ठीक ही पीट रहा होगा क्योंकि कोई झूठा आदमी इतने जोर से टेबल पीटता है एक पागल आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मैं पैगंबर हूं मैं तीर्थंकर हूं मैं अवतार हूं मैं फला हूं ढिका और सिर्फ पागलों को ही ये ख्याल पैदा होते हैं किसी समझदार आदमी को यह ख्याल पैदा नहीं होते धार्मिक आदमी को यह ख्याल पैदा नहीं होते कि मैं तीर्थंकर हूं मैं अवतार हूं मैं पैगंबर हूं मैं ही ईश्वर का संदेश लेके आया हूं ये सब विक्षिप्त और न्यूरोटिक दिमागों के लक्षण हैं धार्मिक आदमी को तो ये ख्याल होता है मैं हूं ही नहीं मैं क्या संदेश लेके आऊंगा धार्मिक आदमी तो वो है जो परमात्मा में मिट जाता है और अभी हम उन धार्मिक लोगों को पकड़े बैठे हैं जिनकी घोषणाएं जिनके अहंकार की घोषणाएं बड़ी मजबूत हैं कि मैं ये हूं मैं वो हूं और कमजोर लोग उनके आसपास इकट्ठे हो जाए और एक नया धर्म खड़ा हो जाए सारी दुनिया में धर्म बढ़ते चले गए लेकिन धार्मिकता कम होती चली धार्मिकता बढ़ ही नहीं सकती धर्मों के बढ़ने के साथ दुनिया में जिस दिन भी मनुष्य विवेक और संदेह और विचार से सोचेगा उस दिन धर्म बचेगा धर्मों के बचने की कोई जगह नहीं रह जाएगी रिलीजन होगा रिलीजन नहीं हो सकते और जब तक रिलीजन से जब तक धर्म है तब तक अध्यात्म संभव नहीं है अध्यात्म तो पदार्थ के जगत में जैसा विज्ञान है वैसा चेतना के जगत में अध्यात्म है अध्यात्म तो होगा सार्वलौकिक सार्वभौम सार्वजनिक एक सारे विश्व का क्योंकि वे नियम सार्वभौम ही हो सकते हैं वे नियम अलग अलग लोकल नहीं हो सकते कि पूना का अलग धर्म है और बंबई का अलग धर्म और फिर पूना में ही मस्जिद वाले का अलग धर्म है और मंदिर वाले का अलग धर्म ये संभावना नहीं है लेकिन ये संभावना अब तक रही क्योंकि विश्वास के आधार पर धर्मों को खड़ा किया गया विश्वास अंधा है वो ये नहीं पूछ सकता कि क्या गलत है तो जो भी पकड़ा दिया जाता है वो ठीक ही हो जाता है उसको फिर संदेह करने का विचार करने का कोई सवाल नहीं रह जाता विश्वास ने मनुष्य जाति को आध्यात्मिक नहीं होने दिया पहली बात दूसरी बात मनुष्य को मनुष्य के सारे इतिहास में एक बात पर निरंतर ध्यान रखना जरूरी रहा है जो नहीं हो सका आज तक वो ये कि लोग सोचते हैं कि जीवन की श्रेष्ठतम अनुभूतियां पारंपरिक हो सकती हैं ट्रेडिशनल हो सकती हैं तो भूल में जीवन की श्रेष्ठ अनुभूतियां हमेशा वैयक्तिक होती हैं उनकी कोई परंपरा उनका कोई सामूहिक कोई धारा नहीं होती जीवन की श्रेष्ठ अनुभूतियों की सौंदर्य का अनुभव मेरा अनुभव है प्रेम का अनुभव मेरा अनुभव है सत्य का अनुभव भी मेरा अनुभव होगा प्रार्थना का अनुभव भी मेरा अनुभव होगा मैं अपने निजी एकांत में मैं अपने व्यक्तित्व की गहराइयों में उसे अनुभव करूंगा और जानूंगा लेकिन परंपराओं से चलते हुए शब्द और शास्त्र और ज्ञान अगर मैं पकड़ लू तो मैं उनमें जकड़ जाऊंगा मेरी निजी अनुभूतियों से वंचित रह जाऊंगा आदमी नहीं धार्मिक हो पाया क्योंकि धर्म एक परंपरा बन गया धर्म परंपरा नहीं धर्म अंतर्भाव है धर्म अंतर से आविर्भाव है बाहर से मिली हुई बपौती नहीं धन की बपौती मिल सकती है मेरे बाप मुझे जाते वक्त धन दे सकते हैं मैं अपने बेटे को जाते वक्त धन दे सकता हूं लेकिन ज्ञान नहीं अनुभव नहीं मैंने जो जाना और जिया है उसे मैं ज्यादा से ज्यादा शब्द दे सकता हूं लेकिन वो अनुभूति ट्रांसफरेबल नहीं है एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं दी जा सकती अब तक हमने अनुभूतियों को भी हस्तांतरण ही मान लिया और जो दिया गया उसे हम पकड़ के बैठ गए फिर हमारे हाथ में कोरी राख रह जाए तो आश्चर्य नहीं है क्योंकि अनुभूति का अंगारा एक व्यक्ति की अपनी अनुभूति से जलता है दूसरे के हाथ में जाके वो राख हो जाती है फिर उस राख को पकड़ के हम बैठे रहे और पूजा करते रहे हजारों साल तक तो भी उसमें आग पैदा नहीं होती आग तो हमेशा अपनी ही अनुभूति से उत्पन्न होती है तो धर्म न तो श्रद्धा है धर्म है विवेक और धर्म परंपरा नहीं है धर्म है वैयक्तिक अनुभूति वह है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस उसके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई किसी को देता चला जाए और वो आगे बढ़ता चला जाए एक महाकवि समुद्र के किनारे गया हुआ था वहां उसने सुबह ही जाके देखा कि बहुत सुंदर हवाएं हैं सूरज निकला है बड़ी ताजी रोशनी है बड़ी सुगंध और शीतलता से भरी हुई हवाओं में वो आनंद से नाच उठा और गीत गाने लगा फिर उसे ख्याल आया कि मैं अकेला आया हूं उसकी पत्नी उसकी प्रेसी तो दूर एक अस्पताल में बीमार पड़ी है ये खुशी मैं उसे किस तरह भेजूं ये आनंद जो मैंने जाना है सुबह समुद्र के तट पर ये उसे किस तरह पहुंचाऊं फिर वो कभी ही था उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक सुंदर पेटी बनाऊं और उसमें ये सब रोशनी और ये सब हवा बंद कर दूं और अपनी पत्नी को भेज दूं आखिर वो कभी ही था उसे ये ख्याल भी नहीं आया कि पेटियों में समुद्र की हवाएं और सूरज की रोशनियां बंद नहीं होती लेकिन वो पेटी ले आया अगर उसको ख्याल आ जाए तो वो कभी ना होकर कि वैज्ञानिक हो जाए उसे ख्याल नहीं आया वो गया और जाकर उसने एक बहुत खूबसूरत पेटी बनवाई पेटी बहुत खूबसूरत थी इसमें कोई शक नहीं लेकिन पेटी की खूबसूरती सूरज की रोशनी को बंद नहीं कर सकती उसने आके समुद्र के किनारे की हवाएं उस पेटी में भरी रोशनी भरी फिर खूब ताला ठीक से लगाया फिर एक चिट्ठी लिखी और एक संदेश वाहक के हाथ पर पेटी भेजी और उस पत्र में उसने लिखा कि इतना सुंदर इतना आनंदपूर्ण प्रभात मैंने देखा है कि अपने जीवन में नहीं देखा तुम वंचित न रह जाओ इसलिए नमूने के लिए थोड़ा सा भर के मैं पेटी में तुम्हारे पास भेज रहा हूं वो चिट्ठी पहुंच गई उसकी पत्नी थोड़ी तो हैरान हुई क्योंकि स्त्रियां चाहे कितनी ही भावुक हों कवियों से कम भावुक होती थोड़ी तो हैरान हुई कि पेटी में कैसे ये आ सकता है लेकिन हो सकता है मां कवि था उसका पति और कवि क्या नहीं कर सकते हैं जहां कोई नहीं पहुंचता कहते हैं कभी वहां पहुंच जाते हैं शायद कोई तरकीब क्यों हो उसने पेटी खोली वहां तो खाली पेटी थी न वहां कोई सुगंध थी न वहां ठंडी हवाएं थी न वहां कोई रोशनी थी वो बहुत हैरान हो गई उसने अपने पति को खबर भेजी कि बेटी पहुंच गई पत्र भी पहुंच गया लेकिन जो तुमने भेजा था वो शायद पीछे ही छूट गया वो नहीं आ पाया सत्य के और परमात्मा के सागर के किनारे भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं फिर उन्हें वहां अपने प्रेमियों की याद आती है फिर उन्हें ख्याल आता है कि यह अनुभव परमात्मा के निकट आके जो उपलब्ध हुआ इसे अपने प्रेमियों के पास कैसे भेजते हैं उनका प्रेम ठीक है उनकी करुणा ठीक है उनका स्मरण ठीक है उनकी दया ठीक है वे बड़ी अनुकंपा से भरते हैं और शब्दों की पेटियों में उस अनुभव को भर के भेज देते हैं फिर हमें गीता मिल जाती कुरान मिल जाता बाइबल मिल जाती धम्म पद मिल जाता एक से एक बढ़िया शास्त्र मिल जाते लेकिन उस कवि की पत्नी ने जितनी समझदारी बरती उतनी समझदारी हम नहीं बरत पाते शब्द मिल जाते हैं पत्र मिल जाते हैं पेटी मिल जाती है लेकिन जो उन्होंने जाना था परमात्मा के निकट पहुंचकर वो नहीं आता शब्दों में कोरे खाली शब्द हमारे पास आ जाते हैं हम उन्हीं शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं हम उन्हीं शास्त्रों को पूजा करने लगते हैं हम उन्हीं शास्त्रों को लेकर नाचने गाने लगते हम अगर ये शास्त्र हमें इतना ही ख्याल दिला सके कि नहीं जो लोग पहुंचे हैं उस किनारे पर उन्होंने तो बहुत प्रेम से खबर भेजी है लेकिन वो खबर आ नहीं पाई शब्द आ गए अनुभव नहीं आते हैं अनुभव पीछे ही छूट जाते हैं अगर हमें ये ख्याल आ जाए तो शायद शास्त्रों को हम पकड़े नहीं तो शायद शब्दों को हम पकड़े नहीं तो शायद शास्त्र और शब्द हमारे भीतर एक प्यास जगह के शांत हो जाएं और सागर के किनारे पहुंचने की तीव्र तीव्र अभिप्सा हमारे भीतर पैदा हो जाए शायद हम भी वहां जाना चाहें जहां बुद्ध ने जाके जाना जहां कृष्ण ने जाके नाचा जहां क्राइस्ट ने जाके पहचाना शायद हम भी वहां जाना चाहें लेकिन नहीं हम यहीं तृप्त हो जाते हैं पेटियों को शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं एक मंदिर बना लेते हैं अपने घर में हमारे गीता का मंदिर हमारे बाइबल का मंदिर हमारे कुरान का मंदिर है फिर हम पूजा करते हैं और यहीं तृप्त हो जाते हैं और वो सागर जिसके पास जाना जरूरी था और भी दूर रह जाता है हमारी आंख भी उस तरफ उठनी बंद हो जाती धर्म शास्त्र में नहीं है धर्म अनुभूति में है शास्त्र अनुभूति से निकले हुए उच्छिष्ट से ज्यादा नहीं झूठे से ज्यादा नहीं लेकिन उनको पकड़ के परंपराओं को पकड़ के सिद्धांतों को पकड़ के आदमी रुक गया इसलिए आदमी आध्यात्मिक नहीं हो पाया श्रद्धा से मुक्ति चाहिए अगर मनुष्य को आध्यात्मिक बनाना हो परंपरा से मुक्ति चाहिए शास्त्र से मुक्ति चाहिए तो मनुष्य के भीतर वो संभावना प्रकट हो सकती है जो उसे प्रभु के निकट पहुंचा देती प्रभु तो बहुत बहुत निकट है लेकिन हम कुछ पीठ किए हुए खड़े सत्य तो हम सबके हाथ की संभावना है लेकिन हम असत्य को पकड़ के बैठे हुए जहां हम पहुंच सकते हैं वहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हम कुछ गलत दिशाओं में यात्राएं कर रहे हैं ये इस कारण आदमी आज तक शांति को आनंद को प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सका है लेकिन निराश होने का कोई भी कारण नहीं जो आज तक नहीं हो सका वो कल ही हो सकता है वो आज ही हो सकता है जो दस हजार वर्षों में नहीं हुआ वो कल हो सकता है कल की संभावना अनंत है लेकिन अगर हम कल की पिटी हुई लकीरों पर ही चलते जाएं तो नहीं होगा क्योंकि वे पटी लकीरें आज तक आदमी को कहीं भी नहीं ले जा सकी अगर उन्हीं लीकों पर हम चलते चले जाएं तो नहीं होगी ये बात लेकिन ये हो सकती है क्योंकि वे रास्ते छोड़े जा सकते हैं नए रास्ते खोजे जा सकते नए मार्ग खोजे जा सकते पुराने भटकन मिटाई जा सकती है आंख से पट्टियां उतारी जा सकती है धोखे से बचा जा सकता है एक छोटी सी घटना और आज की बात मैं पूरी करूंगा शैतान ने एक बार सारी दुनिया के लोगों को खबर की कि मुझे कुछ चीजें लीलाम करनी है आक्षण करना अब शैतान की चीजों को लेने के लिए दुनिया में जिनके पास भी सामर्थ्य थी वो सभी पहुंच गए क्योंकि एक से एक बढ़िया चीजें होंगी भगवान के पास तो कुछ बढ़िया चीजें होती नहीं प्रार्थना होती है ध्यान होता है शांति होती है शैतान के पास न मालूम क्या क्या तरकीबें हों क्या क्या खूबियां हों सारे लोग शैतान के ऑप्शन में पहुंच गए उसने कई चीजों पर सब चीजों पर दाम लगा के रख छोड़े थे उनका नीलाम होना था उसमें बेईमानी थी उसमें हिंसा थी उसमें झूठ था उसमें क्रूरता थी उसमें सब चीजें थी सबके दाम थे सब चीजें आदमियों के हैसियत के भीतर थी उन्होंने उनको धीरे धीरे सभी चीजें बिक गई सिर्फ एक चीज निराशा तो बहुत ज्यादा दाम रखा रखे थे उसने उसको खरीदने की सांभ किसी के भी भीतर नहीं लोगों ने उस शैतान से कहा कि निराशा के इतने दाम लगा रखे एक से बढ़िया चीजें हिंसा कठोरता दुष्टता सब सस्ते में बेचती आपने निराशा के इतने दाम क्यों लगा रखे शैतान ने कहा कि मेरी और कोई चीज असफल हो जाए निराशा कभी असफल नहीं होती जिस आदमी को मुझे परमात्मा की तरफ जाने से रोकना होता उसको मैं निराशा पिला देता हूं और सब चीजें असफल हो जाती हैं कठोर आदमी नम्र बन जाता है हिंसक आदमी अहिंसक हो जाता है झूठ बोलने वाला सच बोलने लगता है और सब तरकीबें गलत साबित हो जाती हैं लेकिन निराशा मेरी कभी गलत साबित नहीं होती क्योंकि निराश आदमी कुछ होने का ख्याल ही छोड़ देता है हिंसक को हमेशा लगता रहता है मैं अहिंसक हो जाऊं बेईमान को लगता है मैं ईमानदार हो जाऊं लेकिन निराश का मतलब यह है कि जिसको यह लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं हो सकता हूं तो निराशा सबसे अद्भुत चीज है मेरे पास इसको मैं सस्ते में नहीं बेच सकता सब चीजें बिक गई निराशा नहीं बिक सकी वो शैतान के पास अभी भी है और अभी भी वो एक ही तरकीब से सारी मनुष्य जाति को आगे बढ़ने से हमेशा रोकता रहता है बस एक ही दवा उसके पास रह गई सब दवाएं आदमियों ने खरीद ली और हिंदुस्तान के आदमियों ने काफी चीजें खरीद ली एक दवा उसके पास रह गई है निराशा की और अगर मनुष्य जाति को कोई चीज रोकेगी आगे बढ़ने से तो वो सिर्फ निराशा है और कुछ भी नहीं मैं निराश नहीं हूं और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं निराश होने का कोई भी कारण नहीं ये हो सकता है कि आज तक जो नहीं हुआ उसके ना होने का कारण हमारी कोई बुनियादी भूलें थी वो कल हो सकता है रोज नई चीजें होती चली जाती हैं जिंदगी रोज नई हो जाती है और नए रास्ते ले लेती है धर्म के मामले में हम पुराने रास्तों से